बीच में लिख दिया विशिष्ट अधिकार इस पंक्ति का रखने की शैली से ही मालूम हो जाता है वो भी पहले ब्राह्मण ब्राह्मण से विशेषत्व अधिकार एवकार भी कहना और विशेषता भी कहना ब्राह्मण से कहने से इतर का अत्यंत निषेध हो रहा है एवकार के द्वारा इतर का अत्यंत खत्म हो गया मामला क्षत्रिय तो प्रसंग ही नहीं है बता दिया एवकार के द्वारा फिर विशेषता भी क्यों कहा इस पर चिंतन करेंगे तो यही ज्ञापन होता है ब्राह्मणों में भी जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के बावजूद इस प्रकार संसार का परीक्षण करके जो वैराग्य को प्राप्त नहीं किया है उनको व्यावर्तन करने के लिए विशेषता शब्द का प्रयोग कर रहे हैं नहीं तो एवकार कहने से ही जब उनका निषेध हो गया और विशेषता कर फिर उनको लाओगे वापस अधिकार प्राप्त करा दोगे फिर एवकार का क्या रह गया टिप्पणी यहाँ इसलिए हम गलत समझ रहे हैं क्योंकि कारण यह है टिप्पण गलत कहने में यही है कि एवं भी का और विशेष भी का दोनों की क्या व्याख्या करेंगे यदि विशेष के आधार पर अक्षत विषय को दे दोगे फिर एवं के अंदर किसका निवर्तन करोगे शुद्ध को निवर्तन करोगे क्या जो चलो चौकी कर्म ही प्राप्त नहीं है वेद ही प्राप्त हो क्या त्यागेगा इस साधारण कर्म त्याग को संन्यास लेके चलोगे तो शूद्र को तो वैसे ही तो अधिकार अभाव है अत्यंत अभाव है उसको में चोटी प्राप्त नहीं अग्निहोत्री कर्म प्राप्त नहीं है अग्नि उद्वास करेगा कैसे वो इसलिए एवं और विशेष दोनों शब्दों को देखने से लगता है यह टिप्पण बिल्कुल गलत है इसको अपने आप आप दूसरी टिप्पण उस पर लिख डालिए अपने तरफ से कि भाई यहाँ पर यह होना चाहिए एवं और विशेष उभय शब्द प्रयोग तत्व पूर्वोत्तर जो है धर्माधर निवर, निवर्तित सती सर्वत्याग तत्वाचा ये दो हेतु दे करके अपने आप दूसरे टिप्पण बनाना चाहिए कि ये टिप्पण गलत है ये जो कर रहे हैं ना इस तरह के लिख करके क्या हो जाता है कि क्षत्रिय को भी अधिकार है कर दिया आपने वैश्य को भी अधिकार है और आपके गुण का संबंधी खत्म हो गई यदि ये कहो क्षत्र क्षत्र ही नहीं रह गया बात ही खत्म जो दर्श गुण संपन्न है लड़ाई सारा प्रसंग क्यों लिखा गया विश्वामित्र की कहानी इसलिए तो लिखा हुआ है अपने क्षत्रियत्व का विमान को छोड़ना पड़ेगा ब्राह्मणत्व का विमान करना पड़ेगा यदि वो तारस गुण संपन्न है तारस कर्म संपन्न है वो गुण कर्म वाला जब है तो अपने वो फिर क्षेत्र क्यों मान रहा है इसी बात पर तो वशिष्ठ जी उनको नहीं कहा कि तुम ब्रह्म ऋषि हो क्योंकि अपने अहंकार में अगर अपने क्षत्रित्व को स्वीकार कर रहा था जब उसको भी त्याग दिया तब आओ ब्रह्म ऋषि स्वागत किया उनका क्योंकि अब उन्होंने ब्राह्मण तो अपने आप में मान लिया जब ब्राह्मण तो मान लिया सन्यास के उनके ब्राह्मण तो रहेगा क्षत्रदान का चीज ही नहीं रहा क्योंकि छत्र तो पहले नष्ट हो चुका है ब्राह्मण तर्क के बाद संन्यास होता है ना क्षत्रित्व का रहते हुए संन्यास का प्रसंग ही नहीं है क्षत्रित्व त्यागा वहां से प्रमोशन पाके तो में आया और ब्राह्मण से प्रमोशन पाके संन्यास रह जाता है तो ब्राह्मण तो उसके अंदर रहेगा पूर्ववर्ती चीज रहेगी उससे भी पूर्व कह दिया है इसके अंदर ब्राह्मण तो उसके अंदर आया ही नहीं था भ्रांति ये ध्यान रख तो परीक्षण लोकांति कुरुच्छत है इन लोगों की इस प्रकार समय परीक्षण करने के बाद करना क्या चाहिए तो कहते निर्वेदम निपूर्व विधि रत्र वैराग्य वैराग्यम आयात कुरिया निपूर्वक विधि धातु का यहाँ पर वैराग्य ही अर्थ लेना चाहिए वैराग्यम आयात आयात मतलब कुरियात सवैराग्य प्रकार है वो प्रदर्शित है वैराग्य करने की तरीका क्या है किस प्रकार से वैराग्य होनी चाहिए वो भी वर्णन कर रहे हैं यह संसार नास्ति कश्चित कृत पदार्थ सबसे पहला ये निर्णय है कि संसार में कोई अकृत माने नित्य पदार्थ अकार्यात्मक जो नित्य पदार्थ है ही नहीं ये पहला निर्णय सर्व ही लोक कर्मचिता कर्म कृत अनित्या समस्त लोक क्या है ये लोक मने भी विषय सारा जगत ए टू जेड संपूर्ण गिनना ये क्या है वो कर्मचिता मेरे कर्म के द्वारा प्राप्त है कर्म का कार्यभूत वस्तु है इसीलिए कर्म कृतत्वादेव अनित्या कर्म कृत होने के नाते इनको अनित्य माननी चाहिए नित्य नित्यम किंचित अस्थि इत विपा है मैंने कुछ भी नित्य नहीं है संसार में ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेना यह सबसे पहला मुख्य है वैराग्य का बीज है फिर उसमें कारण लेना पड़ेगा युक्ति क्यों ऐसा क्योंकि सर्वंध का कर्म अनित्य से साधन क्यों संसार में जो कुछ भी कर्म है वो अनित्य फलों का ही साधन होता है यह समाज चतुर्विध में वही सर्वम कर्म जिसलिए कि संसार में कर्म चार ही प्रकार का होता है जितनी भी है सर्वम कर्म चतुर्विधम एवं कौन से कौन से कार्यम उत्पाद्यम पहला में उत्पाद दूसरे में आप तीसरे में संस्कार चौथे में विकास यही चार वाह नाद परम कर्मणों विशेषोस्ती इससे अधिक कोई और पांचवा प्रकार का कर्म क्रियाजन्य कोई चीज या क्रिया या क्रियाजन्य जो वस्तु है हो नहीं सकते विशेषोस्ती अहंच नित्यन अमृतेन न फुटस्तेन ध्रुवे ध्रुवेण न अर्थी न न यह कौन होना चाहिए विशेष अस्थि अहंच और जो मैं हूँ वो कैसा हूँ मैं इनमें से कोई नहीं हूँ ना तो मैं उत्पाद्य हूँ मेरा स्वरूप किसे उत्पन्न किया नहीं शरीर मेरा उत्पन्न जरूर हुआ होगा लेकिन मैं तो उत्पन्न नहीं हुआ और मैं प्राप्ति भी नहीं हूं किसी ने प्राप्त किया गया अगर कहते मुझे पुत्र पुत्र प्राप्त हो गया अरे पुत्र प्राप्त कैसे हो गया पुत्र प्राप्त होता नहीं है एक शरीर प्राप्त हुआ जिसको आप पुत्र संज्ञा दे रहे हैं क्योंकि पुत्रत्वावच्छिन्न जो चैतन्य है वो चैतन्य का अप्राप्ति है अतः पुत्र प्राप्ति ही नहीं पुत्र तो संज्ञा मात्र ही है भाषारमण विकारो नामधेय मृत्यु का सत्य तो चैतन्य ही तो सत्य है ना इसलिए पुत्र प्राप्त होना या मैं किसका पितृत्व पितृत्व को प्राप्त कर गया ये सब भ्रांति है इसलिए कहते कि देखो कि वास्तव में आपकी भी नहीं है प्राप्ति भी नहीं जो अहम है आत्मा चैतन्य वो न उत्पाद्य है न प्राप्य है वह संस्कारियम वह संस्कारी भी नहीं जैसे लकड़ी को पेंट कर दिया संस्कारित हो गया कमरे को धो दिए संस्कारित हो गया है कि नहीं आप अपने शरीर को नहला दिए तो शरीर का संस्कारित हो जाना मान लेते हो वैसे इस आत्मा को किसी भी प्रकार से संस्कारित नहीं किया सकता है न तो गुणाधार द्वारा किसी प्रकार का संस्कार प्रदान किया सकता है न दोषाधान के द्वारा किसी प्रकार के संस्कार को प्रदान किया सकता है दोषों का आगमन होने से वस्तु सड़ जाता है दुर्गंध मारता है खराब हो जाता है और गुणाधान करने से वस्तु का संशोधन हो गया शुद्धिकरण हो गया है ये नहीं सुगंध होगा अच्छा कहेंगे लोग ये तो है ना ये आत्मा के अंदर गुणाधान हो सकता ना दोषाधान हो सकता अतएव संस्कार भी नहीं है चलो उसको बिगाड़ दूंगा मैं विकार कर दूंगा उसका दूध को जैसे दही बना दे तो जामन डाल के फाड़ करके वैसे इस आत्मा के अंदर कुछ जामन डाल दिया जाए इसका विकार हो जाए कते भी नहीं हो सकता माया ने बहुत कोशिश की आज तक लेकिन अनादिकाल से अगर माया ने उसके स्वरूप को बिगाड़ नहीं सका तो अन्य कौन से विकार पैदा कर सकता है इसलिए वो आत्मा विकार्य भी नहीं है अतएव कहते हैं नाद अलंकरण शक्ति अंश नित्य इसलिए मैं कैसा हूँ नित्य स्वरूप से अमृत रूप से अवय रूप से कूटस्थ रूप से अचल रूप से ध्रुव रूप से और वास्तव मोक्ष प्रयोजन रूपी प्रयोजन से अर्थी हुई न तो विपरीत न तादृश मोक्ष रूप अर्थ के द्वारा मैं अर्थी बन रहा हूँ मैंने मैं इस नित्य स्वरूप को अनुभव करना चाहता हूँ मैं उस अमर धर्म आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ मैं जो उस अभय धर्म आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ मैं उस कूटस धर्म आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ वह अचल और ध्रुव स्वरूप आत्मा का मैं अनुभव करना चाहता हूँ तादृश मोक्ष प्रयोजन से ही प्रयोजन वाला मैं हूँ इससे विपरीत किसी अन्य प्रयोजन वाला किसी अन्य वस्तु तत्व आदि का अनुभव करना नहीं चाहता ऐसा दृढ़ निश्चय भी वैराग्य हुआ ये बीज था ये अंकुर स्थिति को प्राप्त कर गया तो हाँ, अतः किंगदेर कर्मण आयात बहुड़े अनर्थ साधन अब सब कर्म को त्याग दे जब ये अंकुरित हो गया दृढ़ निश्चय कर लिया न मैं संस्कारी हूँ न आप्य हूँ न प्राप्य हूँ न उत्पाद्य हूँ अत्यो कर्मों को त्याग दे और ये निर्णय लेगा किम कृत कर्मणा इस अनित्य कर्मों के द्वारा क्या मेरा लाभ होगा वो भी कैसे ही अनित्य कर्म आयास बहुल अनर्थ न एक तो आयास बहुल भी है और उल्टा अनर्थ को ही प्रदान करने वाला है मेरा जो अपना अर्थ है नित्य अभय आदि की प्राप्ति या अनुभूति स्वरूप स्थिति वो उसको तो प्रदान करने वाला उसका साधन नहीं है अनर्थ का साधन है इतम निर्विंडो इस प्रकार से विरक्त होकर अभयम शिव अकृत नित्यम पद में तद विज्ञातम जो अभय है शिव है अकृत है नित्य पद है जो कि के द्वारा स्वरूप अनुभव करने योग्य है अस तत्व को यह तत्व जो है उस तत्व को विज्ञानार्थम विशेष अधिक विशेष रूपे जानना चाहता है उसको क्योंकि ये जो सामान्य रूपेण हम सबके सामने में है ये नहीं कि आत्मा नहीं है ऐसा कोई नहीं बोल सकता इस संसार में जो बोल रहा है वो तो समझो कि भाई पता नहीं कौन सी दारू पी रखा है कौन सी अज्ञान में डूबा है पता नहीं क्योंकि उनसे पूछो जो कह रहा है मैं नहीं हूं वो है या नहीं जो बोल रहा है आत्मा नहीं है वो आदमी जो बोल रहा है वो है या नहीं वो तो है ना वो तो है क्या वो वो तो आत्मा है जो बोल रहा है मेरे बोले वाला से वो मैं नहीं हूं ऐसा बोलने वाला भी बोलो तो भी आकर दोषग्रस्त हो जाएगा है या नहीं इसीलिए कहते हैं कि देखो कि ऐसा जो चीज को जानने के लिए विशेष रूप इसलिए ये हो गया सामान्य रूप हम सब जानते हैं आत्मा है और गंवार भी बोलेगा हमारे पिताजी का आत्मा को शांति मिले ऐसे ही बोलता भाषा उसकी ही होती है माँ मर गई अरे दुखी नहीं होता अरे मैं तो ये प्रार्थना करूंगा कि मेरी माँ की आत्मा को शांति मिले इसलिए मैं ये श्राद्ध कर रहा हूँ कर कर पा कर रहा हूँ पूजा ये तो कई लोग कहते हैं उन्हें सभी को ये पता है कि आत्मा है और आत्मा को शांति चाहिए ये भी सबको पता अशांति किसी को नहीं चाहिए ये कोई नहीं कहता मेरा बाप मर के नरक चला जाए उसको अशांति मिल जाए कोई नहीं बोलेगा सब कहते मेरे पिताजी वो स्वर्गवासी है कैलाशवासी है नरकवासी कोई नहीं बोलेगा उसको अशांति मिले उसे पूजा पाठ कर रहा हूँ ऐसा कभी नहीं कहेगा कहेगा उनकी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए चाहे जितना लड़ाई झगड़ा रहा हो बाप बेटे को एक दूसरे को चारा नहीं देखता हो पानी न पिलाया ना पिलाएगा कभी जिंदगी में कभी पिलाया फिर आप क्या पिलाएगा मरने के बाद ऐसा भी बेटा क्यों ना हो फिर भी वो अंत में ही कहेगा फिर जो भी था सो हो गया हो गया लेकिन मरने के बाद जरूर शांति मिलनी चाहिए तो ऐसे तो कई हैं जो मरने के बाद भी दुनिया को शांति से जीने नहीं देना चाहते ऐसे नहीं है लोग जीते जीते तो को शांति से जीने नहीं दिया वो कह मरने के बाद भी किसी को शांति नहीं मिलनी चाहिए नहीं वो तो नहीं बना बड़ा तरकीब है उसके उसके क्या के एक आदमी ने ऐसे ही था तो उसने कहा कि देखो हमारी मुर्दा को जो है ना शरीर को तो उस गांव के स्मशान में जलाओगी ये गांव और गांव वाले लड़ाई चलती थी हमेशा विरोधी थे यहाँ का मुर्दा वहां नहीं जा सकता वहां का मुर्दा यहाँ नहीं जा सकता था अब इसमें तो मेरा अंतिम इच्छा क्या कुछ ये बोल दिया मेरी अंतिम इच्छा की मेरे शरीर वही जलनी चाहिए अब लो यहाँ से ले गए सब लठ वट ले गए यहाँ से वहां से लठ लेकर के पहुंच गए अब किधर से वहां रहा आप क्या करें मार जला झगड़ा पिता पाती खूब हुई अभी तय आज डीएम सीएम सब आ गए आकर करके उनको कहे कि भाई ऐसा करो ये गाँव ये गाँव ही नहीं वो गाँव ही नहीं आधा शहर इस गाँव के भीतर आधा शहर उस गाँव के भीतर बॉर्डर खींच तो दिया गाँव की और है इधर आधा उधर बीचों बीच रहता उसको जलाना पड़ा तो ऐसे भी दुष्ट होते जहां मरने के बाद इच्छा जलाने भी नहीं देते है या नहीं नहीं ऐसे को भी आप क्या कहेंगे उसकी आत्मा को शांति क्यों करती सभी उसी को चाहते हैं इसने का कहना है कि निर्णय ले लिया उसने अभयम शिवम अकृतम नित्य विज्ञातम विशेष अधिकार सामान्य रूप में सब जान रहे हैं जो उसी को विशेष रूप वो अनुभव करना चाहिए उसके लिए स निर्विंडो ब्राह्मणो वह जो परम व्यक्त जो ब्राह्मण है वो क्या किया गुरम आचार्यम शम दम दया आदि संपन्न अभिगछे जो ऐसे आचार्य के पास वो गया गुरु के पास जो शम दम दया आदि से संपन्न है क्षण भर के लिए बड़े गुस्सा भी हो जाए तो क्या हो गया उसके बाद में प्रेम से तो बोल रहे तो ये होता है शिक्षा देने के लिए कई बार डांटना पड़ जाता है तो ये तो है नहीं गुरु नाराज हो गए नहीं वो गुरु कभी नाराज होते ही नहीं है वो नाराज हो फिर गुरु का है तो तो बढ़िया है कि अपने स्वार्थ के लिए जो है देखा ये गड़बड़ कर रहा है मेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं करे तो नाराज हो गया उसके ऊपर तो बनिया गुरु हो गया फिर वैश्य गुरु और क्षत्रिय गुरु होता है तो मार काटी कर देगा पूरा छिलेगा अब ब्राह्मण गुरु है तो फिर ब्राह्मण कृष्ण गुरु में ऐसा नहीं होगा ठीक है दो दो डांट डांट दिया बस हो गया छुट्टी फिर उसको प्रेम से बुलाएंगे डांट भी देंगे बाद प्रेम से समझा भी देंगे नहीं ऐसा नहीं करना ऐसे करना चाहिए समझा देंगे उसको तो क्षमा दम दया आदि से संपन्न हो उसी से ही विद्या प्राप्त हो सकती दूसरे से नहीं हो सकती दूसरा तो अंदर से कुछ रहेगा बाहर से कुछ रहेगा बाहर से पढ़ा रहे भीतर से जा रहे बदमाश ही चला तो क्या फायदा है उसकी कृपा तो बहेगी नहीं तो बिना गुरु की कृपा से विद्या कहा प्राप्त होना है कि नहीं इसे तो दया या भाषिकार ने जान के छोड़ा है आदि करके नहीं छोड़ा शब्द मारी ऐसा बोल सकते थे लेकिन दया विशेष रूप में कथन करके फिर आदि बोल रहे ये अति आवश्यक गुणों में से है इसलिए कहा अभिगछेद ऐसे के पास हो जाता है शास्त्र क्यों भी स्वातंत्र ब्रह्म ज्ञान अन्वेषण न कुरियात ये सबसे बड़ी बात एक और कह दिया भाषिकार भले आप समस्त वेद वेदांत के पढ़े लिखे प्रकांड पंडित विद्वान है हम नारद जी से बढ़कर तो कोई विद्वान हो ही नहीं सकता संसार में नारद जी कलिष्ठ जानते हैं ना छांद के उपनिषद में देख लेना गिनाया है मैं क्या क्या पढ़ा लिखा हूँ अपने क्वालिफिकेशन बता रहा है उदरेक मेडिटेशन से धरती पर कोई कर ही नहीं सकता ऐसी कोई विद्या नहीं पर वो पीएचडी नहीं पाए हो सब ये पीएचडी बता रहे अपने आप को चारों वे सड़ंग व इतिहास पुराण वो कला ये कला गंधर्व विद्या वो भी सब गिना भागो वाक्य व्याकरण व सब कुछ बता ऐसी कोई कला उसमें गिनती में ऐसा नहीं है ऐसा कर नहीं सकते आप पूरी चौसठ विद्याओं का पीएचडी था फिर भी कहते हैं कि हम तो सुनाइए केवल शोक नहीं होना चाहिए लेकिन क्या करें इतना सब पढ़ा लिखा होकर भी मेरे को अभी भी शोक है मैंने बोलने की शैली है शोक था वो तो संसार का कल्याण के लिए शिक्षा प्रदान कर रहे हैं जितना भी ज्ञान हो लेकिन भूमा विद्या चाहे विद्या जो चीज है वो गुरु के मुख से जरूर सुननी चाहिए उन्हीं उपनिषद छानदगी के नारद सनत कुमार संवाद का रहस्य एक शब्द में एक वाक्य में लिख दिया कि शास्त्रज्ञों में स्वातंत्र जो श्लोक में तो स्पष्ट ही है हम शास्त्रज्ञ हो चाहे धर्मज्ञ हो चाहे नीतिज्ञ हो चाहे नियतिज्ञ हो ब्रह्म के परोक्ष ज्ञान भी क्यों हो तो भी अपने अज्ञान छिपाओ को कौन जान पाता है इसे गुरु के शरण में जाना ही चाहिए शास्त्रज्ञों की कहते स्वातंत्र अपने मन मर्जी बैठ करके ब्रह्म का ब्रह्म ज्ञान का अन्वेषण करने के लिए कभी प्रयास नहीं करनी चाहिए गुरुमेव अवधारण फलम इसलिए एव ये अवधारण करने का यही फल है समित पाठ समित भार गृहित हस्त समित भार गृहित हस्त श्रोत्रियम अध्ययन श्रुतार संपन्नम ब्रह्मनिष्ठम अध्ययन और अध्ययन से श्रुत पदार्थों में जो संपन्नता को प्राप्त कर चुका है ऐसे से श्रोत्रियम का अर्थ अध्ययन श्रुतार्थ संपन्नम अध्ययन गुरुमुखाद अध्ययन शास्त्र तदर्थ ज्ञानवंतम इत्यर्थ अध्ययन ने न अलग हो गया है पाठ टिप्पण को शुद्ध कर लीजिए अध्ययन तृतीय क्वेश्चन बनाना उसको संपन्न ब्रह्मनिष्ठ में हित्वा ताश ब्रह्मनिष्ठ को त्याग कर सर्वकर्माणी हित्वा सर्वकर्माणी ब्रह्मनिष्ठ के पास ही जाना उस ब्रह्मनिष्ठ को ही ग्रहण करना गुरु के रूप में लेकिन कैसे उसका पूर्व कंडीशन सर्वकर्माणी हित्वा केवल अद्वय ब्रह्मण निष्ठा यश जो सर्वगल कर्मों को त्याग करके केवल अद्वय ब्रह्म में ही निष्ठा है यश स्वयं निष्ठ जपनिष्ठ तपोनिष्ठ जैसे लोग व्यवहार होता है एक जपनिष्ठ वाला पुरुष है अरे नित्य निरंतर जप करने की में ही उसकी रुचि और अन्य कोई कर्म करने में रुचि नहीं तपोनिष्ठ है नहीं तो तपस्या करने में उनकी निष्ठा है और कुछ करना ही नहीं चाहता है पांच तो अग्नि जला करके बैठा रहेगा दिन रात उसका केवल इतने में लगा है कि वह पांच अग्नियां कैसे ठीक चलते रहेंगी उसी की व्यवस्था में लगा हुआ है उसी का चिंतन है और वहां बैठ के अपने भगवत चिंतन करता है तपोनिष्ठ है कोई ऐसा होता है व्रत दुनिया व्रत कर रहे हैं यही व्रत का मतलब एकाशी व्रत वाले लोग एकाशी व्रत करना ही नहीं जानते लोग तो बढ़िया से जो है की आटे का हलवा बना के खा रहे बदाम बदाम डाल कर क्या एकादशी व्रत हो रहा है कोई एकादशी है क्या ये व्रत ही नहीं है अब भ्रांति हो रखे व्रत का वास्तविक व्रत करने वाले भी हमने देखा है दशमी का सूर्यास्त के बाद से पानी भी नहीं पीते खाना तो दूर की बात पानी तक नहीं पी ऐसे ब्राह्मण भी देखा भद्रवादशी का दिन सुबह कोई भी ना मिला अपने विद्यार्थी को खिलाता था आरती करके उतार पूजा करके इनकी मेरा विद्यार्थी भाविनी कहे नहीं आज नारायण हो क्या करे और कोई अतिथि आया नहीं नौ बजने जा रहा है तो कहते विद्यार्थी को बुला के उसको बिठा के तिलक लगा पूजा कर चरण हो के तब उसको खिला के तब ऐसे सदगुण ब्राह्मण अभी जीवित है बुढ़ा अभी जीवित है बुढ़ा मिल के आया हूँ अभी जब गया था तो इस तरह के लोग आज भी है ऐसे नहीं कि अभाव नहीं तो धरती फट जाती गड़बड़ा जाता पूरा कल बर्बाद हो गया होते हैं इधर दिन लोगों की तपस्या है जिसके कारण से धरती चल रही तो इसलिए कहते कि देखो हित्वा सर्वकर्मा ने केवल ब्रह्म जैसे स्वयं ब्रह्मनिष्ठा इसलिए ब्रह्म शब्द किस प्रकार का है जैसे जपनिष्ठ शब्द प्रयोग होता है जैसे तपोनिष्ठ शब्द प्रयोग होता है उसी प्रकार ब्रह्मनिष्ठ शब्द को समझना नहीं कर्मिण ब्रह्म संभव थी और कर्मी के अंदर कोई कहे मैं ब्रह्म ज्ञानी भी हूँ फिर कर्म भी कर रहा हूँ कर्म निष्ठा भी मेरे अंदर है अरे दो निष्ठा नहीं हो सकती दो नौका में पैर रखे कोई चल नहीं सकता है निष्ठा एक में होगा और ये कर्म हो रहा है तो कहेंगे तो प्रार कर्म से हो रहा है भाई हम नहीं करते कुछ न कुर्बन न कारण वाले में है हम तो बस हो रहा है तो ठीक है हो रहा है तो अच्छी बात है नहीं हो तो नहीं हो रहे उसे क्या होना है रोए हो न होने पर जो अज्ञानी अरे हमसे आज कर्म नहीं हुआ भाई आज हमने संध्या नहीं किया बड़ा गड़बड़ हो गया अरे ये जो सोच है हुआ अपना वो कर्मी अज्ञानी है ब्रह्मनिष्ठ पुरुष ये नहीं सोचता है ब्रह्मनिष्ठ पुरुष प्रार का मार्ग शरीर चल रहा है हुआ तो ठीक ना हुआ तो ठीक है सिद्ध सिद्धि सर्वोत्तम योग उच्च स्थिर रहने वाला वो समत्व वाला योगी जो ज्ञानी है उसको क्या फर्क पड़ना है वह कर्म सिद्ध हुआ तो ठीक नहीं हुआ तो ठीक वो स्थिति वाले को ही ब्रह्मनिष्ठ कहा जाता है इसलिए कहते हैं कि नहीं कर्मिणो ब्रह्मनिष्ठता समोती इसे जो कर्मी है उसके ब्रह्मनिष्ठता तो बिल्कुल संभव नहीं है क्यों कर्म और आत्मा इन दोनों ज्ञानों में विरोधा कर्मात्म ज्ञान और विरोधा कर्म का अधिकारी और आत्मज्ञान के अधिकारियों में परस्पर भेद होने के नाते अत्यंत विरुद्ध मामला है सतम गुरु विधिवत उपसन्ना प्रसाद वह वह शिष्य वेदाक्ष विरक्त ब्राह्मण तारस गुरु के पास विधिवत जा करके प्रसन्न करके वो प्रसन्न बनेगा उन्हें प्रसन्न करके पृछे अक्षर पुरुषम सत्यम जो सत्य है अक्षर है पुरुष है उस तत्व के बारे में पूछना चाहिए समित पाणी रीति विनय उपलक्षण समित पाणी का तात्पर्य क्या है विनय को उपलक्षण मैं बहुत बड़ा विद्वान घमंड से चला गया विनय भाव से जाना है जैसे नारद जी गए थे उसी प्रकार से पूर्ण विनय भाव की सजा जितने भी बड़े विद्वान से क्या लेंगे हम जिनसे सुनने गए थे इन चीजों को लघु प्रस्थान पर जो बनारस में तो नाम था बदनाम था जो भी समझो था तो उन्होंने जानकारी ली ये कौन है वेदांत पढ़ना चाह रहा है महात्मा से पूछा जो अब संन्यास आश्रम में रहते हैं उन्होंने कहा एक बहुत बड़ा धार की खोपड़ी वाला है तर्क करेगा बहुत ही तंग करेगा और से भी पढ़ा लिखा है तो रगड़ देगा कहीं भी गलत बोलेंगे तो, तो पहले लोगों ने कान भर दिए थे रामन जी महाराज जी का क्योंकि पहले दूसरों से सूचना लिया था मैंने भाई महाराज जी शुरू कर रहे कि नहीं कर रहे लघु प्रस्तांतरी का नया ग्रुप दो चार लोग हम है सुनना चाहेंगे दो तो हम लगाएंगे ही तो उन्होंने बुला करके पूछा कि आप सुना है कि न्याय मीमांसा सांख और सब पढ़ चुके हो भाई तो मैंने क्या हुआ उससे पढ़ाई तो हूँ मैंने हुआ आप निश्चिंत रहे मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे कि आप न्याय में इतने प्रावीण्यता नहीं है मीमांसा में इतनी प्रावीण्यता नहीं है तो इसीलिए आपसे सोच रहे होंगे हम तर्क तर्क वितर्क करेंगे तो हमने कहा देखिए महाराज हम तो श्रवण करने आ रहे हैं हम पढ़ने नहीं आ रहे फिर हम वेदांत पढ़ेंगे ना फिर हमको तो कोई पढ़ा ही नहीं सकेगा इतना तर्क जाल बजा सकता हूँ एक एक लाइन पर भी यही खोपड़ी है उस समय था अब तो डायबिटीज से डाउन हो गया <laughs> बहुत तेज था तो बनारस में लोग घबरा जाते थे टक्कर खाने के बड़े बड़े पंडित आचार्य लोग कहते इसे तो, तो बद्राच उपनिषद पढ़ ले इसलिए हमको बड़े लोग ही पढ़ा पाते कहते थे इसको तो यही लोग ठीक है दूसरे लोग नहीं कर सकते धीरे देते तो वहां चले जाए आपको वो जवाब देंगे ऐसे था तो हमने जब ये बात कहा तो बहुत प्रसन्न और बल्कि ये स्थिति हुई वो हमको पहले से बुला देते कल जो पाठ होना है ना और आपको देखते थे देख करके फिर हमको बुला देते थे कभी आठ बजे कभी नौ बजे बुलाते ये जो है ये न्यायकार क्या है कल पाठ में आने वाला है थोड़ा इसके बारे में बता दो कितने बड़ी उनके अंदर विनय भाव थी कोई अभिमान नहीं था तो हम काय को अभिमान करेंगे भाई ऐसे के पास जाके सवाल ही नहीं उठता तो हम भी वैसे ही रहते थे पाठ में तो कोई प्रश्न नहीं पूछते थे इसलिए पूछा कोई वेदांत के बारे में पंक्ति के बारे में शब्दार्थ को लेकर के वही श्रवण करते हम पढ़ा ही नहीं वेदांत अब पढ़े नहीं लोग कहते भी इसलिए वो तो पढ़ा नहीं वेदांत हम स्वयं बोल रहे हमने वेदांत पढ़ाए नहीं और पढ़ने की चीज ही नहीं है जो पढ़ता हूँ बेवकूफ है वेदांत पढ़ने की चीज ही नहीं है भाई को कह रहे मैं वेदांत पढ़ाओ तो खा आदमी वो तो श्रवण करने का चीज है पढ़ने का कहाँ है और जैसे श्रोता में मंत्र में कहीं रहते तो पढ़िता बोला कहीं कहीं तो कहा ही नहीं हम इधर वेदांत बोलते पढ़ते पता नहीं पढ़ते पढ़ाते बोल रहे लोग समझ में नहीं आ रहा तीसरे की तरह उनको यहाँ इसे जान के टिप्पण कर कर समित पढ़ कर विनयी भाव से संपन्न होगा विनयी भाव से विनय उपलक्षण तस्वीस विद्वान प्रसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय समान्विताय ये नाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाचताम ब्रह्म विद्याम तस्मय तार्श शिष्य के लिए कैसा शिष्य को विद्वान सविद्वान अलग कर दो तस्मय उपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय समान्विताय सविद्वान एना अक्षर पुरुषम वे, सत्यम वेद अक्षर सत्यम पुरुषम वेद ताम ब्रह्म विद्या तत्व तो प्रोवाच या ये न तत्व तक तो लो ये न तत्वतः सत्यम पुरुषम अक्षर वेद ताम्र विद्याम सविद्वान प्रवाच बृहद गुरु सविद्वान तस्मय अपने समीप में आए हुए आया उस समय प्रकार से प्रशांत चित्त वाले के लिए और समान्विताय जितेन्द्रियों से युक्त जो व्यक्ति के लिए शिशि के लिए उस पर विद्या प्रविद्या को पूर्ण रूप से उपदेश करें जिससे कि वो वह अक्षर सत्य जो पुरुष तत्व है उसको तत्व का जान सकेगा वेद जिसे वो सत्य और अक्षरात्मक जो पुरुष तत्व है उसका ज्ञान उसको समय प्रकार से हो जाए तत्व तो होना है यह भी लक्षण आता है देखिए क्योंकि प्रवचन कहना है कहने की बात में अनुभूति नहीं हो सकती है इसीलिए तत्व तो पुरुषम वेद अनुभूति तो पुरुषम वेद नहीं कह रही तो तत्व तो जान ले पहले तो अपने मन विद्यासन होकर अनुभूति हो सकती इसे गुरु इस प्रकार से प्रस्तुत करें यदि आप देखो गुरु मेरे को अनुभव करावे ये तो असंभव है करा ही नहीं सकता गुरु तो केवल उपदेश के माध्यम से उस पुरुष तत्व का तत्व तक बोध उसका वास्तविक स्वरूप का बोध करा सकता है और स्वरूप की अनुभूति करना वो आगे की बात है हमारा निध्यासन के द्वारा होने वाला वो जो श्रवण के पश्चात आप कितना मनोविद्यासन करेंगे वो आपके ऊपर निर्भर है यह श्रवण काल में भी मनोविद्यासन साथ में हो सकता है श्रवण करने वाले पुरुष की जितनी श्रद्धा है उस पर निर्भर है नहीं तो सुनते सुनते साथ साथ मनोविद्यासन हो जाएगा और साथ साथ अनुभूति भी हो सकती है वैसे सर्वोत्कृष्ट शिष्य हो तो हो जाएगा उतना कर्म शुद्ध हो उतनी श्रद्धा क्या श्रद्धा हो देगी आरम तत्परा सहित इंद्रिया है सब प्रशांत चित्त जो होगा वो तत्व हो जाएगा और सहित इंद्र के लिए समानविताय कह दिया है और शब्दावान के लिए उपसन्नाय कह दिया जो वहां तीन शब्द तीनों यहां आ गया दूसरे शब्दावली प्रयोग किया है इसी श्रुति के आधार पर वो पंक्ति है आपका वहां बहिरंग साधना अलग थी अंतरंग साधना जो बस वो यहां कहा जाता अंतरंग साधन वाला जो पुरुष होता है उसी के लिए गुरु उपदेश करें केवल वेदन साधन वाले को नहीं उसको तत्व तो उपदेश नहीं करना शब्द तो उपदेश करके छोड़ देना जो बहिरंग साधन वाला है ना तद प्रतिपाद प्रश्न न सेवया वो सब पीछे आ गया विधिवत उपकरणा के अंतर्गत है वो वो बहिरंग साधन के अंतर्गत है सारा पृछे तीसरे कहा पहले पहले पृच्छेद अक्षर पुरुषम सत्यम ये सब बहिरंग साधन पूर्व मंत्र में समाप्त हो गया सेवा के माध्यम से प्रसाद्य का शब्द क्या था प्रसाद्य प्रसन्न करके वो सेवा से प्रसन्न कर दिया प्रणिपात किया उन्हें अर्चना पूजा भी किया अपने अंदर उनके प्रति श्रद्धा को बढ़ाया उसकी बिना कैसे होएगा पहले तो बाह्य चाहिए ना बाह्य साधन के बिना अंतरंग के साधन में मजबूती नहीं आ सकती और अंतरंग साधन जब मजबूत होता है तब गजे तो तत्व तो उपदेश तत्व तो तब उपदेश होगा नहीं तो शब्द से उपदेश वो तो होता ही है चाहे आपके शब्द हो या ना हो अरे जो भी आया पढ़ रहा है पढ़ रहा है सुन ही रहा है उसमें क्या दिक्कत है नहीं सुन रही आप जितने गड़बड़ानंद है वो भी सुन रहे हैं और गड़बड़ानंद तो सुन ही रहे हैं इससे कोई संशय नहीं किसी को मना नहीं है लेकिन इतना जरूर है बोलने वाला एक है सुनने वाले पचास है और सुनने वाले पचासों में पचास में तारतम्यता है एक बराबर वाले दो नहीं मिलेंगे और जैसी तारतम्यता है जैसे उनके अंतकरण की शुद्धि में तारतम्यता है उसके अनुरूप उनको विद्या की प्राप्ति होती है और जब बिल्कुल ही जिसके अंतकरण शुद्ध नहीं है और दो चार दिन आएगा फिर बाद में कहेगा भाई तो बेकार है वहां जाने से फायदा नहीं और चार ही दिन में रिटायर्ड हो जाएगा सुनने ही नहीं सकेगा वो उसको दोष दिखेंगे कि श्रद्धा का बाबा बहिरंग साधन भी परिपूर्ण न होने के नाते अंतरंग साधन का अत्यंत अभाव हो जाता है जो व्यक्ति वो दो से तीसरे दिन सुन नहीं सकेगा सुन ही नहीं कर सकता इसलिए यहाँ पर गणित तत्वता इस पर बोल रहा था तत्वता गणित क्या जरूरत है शब्दता होता है अर्थता होता है तत्वता होता है और अनुभूतिता होता है शब्द है मैंने उच्चारण किया आपने उच्चारण की रटाई हो गई वेदांत रट लिया अपने काम हो गया और अर्थ क्या है जो शब्द को सुना अर्थ को समझा और समझाया अर्थ को आपने अर्थ को समझा शब्द अर्थ को लेकर संसार में चले गए वो भी उचित नहीं है बल्कि पहले से तो अच्छा है उस रट्टू से ही अच्छा है लेकिन उससे भी अच्छा वो है तो शब्द तो अर्थ ही केवल ग्रहण नहीं करता है गुरु के प्रति पूर्ण भक्ति श्रद्धा से संपन्न होकर जैसे बताया समन्विता प्रशांत चित्ता इत्यादि तारस वाला होकर के तत्वता ग्रहण करता है वो श्रेष्ठ है और सर्वोत्तम वो है जो पूर्णतया समर्पित है किंचित अहंकार अभिमान आदि से रहित है लेश मात्र भी नहीं ऐसे पूर्ण समर्पित वो तो अनुभूति अनुभूतिता ही अनुभव कर लेगा इसलिए वो शास्त्र में कहीं नहीं मिलेगा लिखा हुआ नहीं मिलेगा चीज लिखा हुआ यही मिलेगा शब्द तथा तत्व था इस तत्व तो ब्रह्म विद्या प्रसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय क्षमान्विताय एनाक्षर पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाजता ब्रह्म विद्या तस्म स विद्वान गुरु ब्रह्मविद उपसन्नाय उपगताय जो शरणागत आ गया है सम्यक यथा शास्त्र सम्यक मैंने यथाशास्त्र में उपसन्ना है मैंने विधिवत उपसन्न है प्रशांत चित्ताय उपरत दर्पाय दोष आय इसके अंदर अभिमान आदि सब प्रकार का दोष नहीं है उस प्रकार का व्यक्ति समान विदाय बाहेन्द्र परमेण चाहे युक्त आया बाहेन्द्र परम से भी युक्त है अंतर इंद्रिय परम से युक्त है और बाहेन्द्र परम से भी युक्त है सर्वतो व्यक्त सब प्रकार से व्यक्त है शरीर इंद्रिया किसी का भी अभिमान नहीं सबसे विरक्त हो गया ये न विज्ञान यया विद्या ये नज्ञान विज्ञान का तात्पर्य यया विद्या जिस विद्या से परया देखिए परा विद्या है अक्षरम अदृश्य विशेषणम जो अदृश्य विशेषण से कहा गया था पारशु अक्षर तत्व को तदेव अक्षरम पुरुष शब्द वाच्य वही अक्षर पुरुष शब्द वाच्य भी है पूर्णता पूर्ण होने से वह और उपाधियों में अध्यास के रूपेण भाषित होने कारण से भी जो है पुरुषराच वह पुरुष है सत्यम तदेव परमार्थ स्वभाव अक्षर वही परमार्थ स्वभाव से अक्षर तत्व कहा जाता है अक्षराणाम अक्षतत्वाद कहते क्यों अक्षरणार्थ अक्षतत्वाद अक्षयत्वाच तो क्षय क्षरणम अवयव का जो है अभाव अन्यता भाव उसको क्षण अवयव को उपचय अपचय जो हो जाता है वो क्षरण है उस क्षरण से जो रहित और साथ साथ अक्षतत्वाद भी कर दिया और शरीर से विकार शून्य भी है परिणाम शून्य और विकार शून्य दोनों तरह के शून्य दोनों से रहित है इसलिए उसको अक्षरम ऐसा वेद या विद्या पर वेद थी ताम्र विद्या यथावत प्रोवाच उस ब्रह्म विद्या को जैसा है वैसा ही ब्रुया कथन करें आचार्य से एवं नियम आचार्य का भी ऊपर ये नियम हो जाता है क्या यह न्याय प्राप्त सचिष्य निस्तारणम अविद्या महोदय कह दिया क्योंकि जो है आचार्य के प्रति भी यह नियम लागू हो जाता है जो विधिवत सत्शिष्य भाव से होकर आया हुआ उस शिष्य को इस अविद्या और भी महासागर से परा देना चाहिए न्याय प्राप्त जो सत्शिष्य उसको अविद्या महोदय निस्तारणम नियम अविद्या मोदी से उसका निस्तारण करना चाहिए ये जो आचार्य के ऊपर नियम भी हो गया समझो बंद गए कहने का तात्पर्य बंद गए बंधन में आ जाएंगे गुरु चेड़े दोनों बंधन में आएंगे यदि चेड़ा विधिवत्ता के फंस गया तो गुरु उसको मान के स्वीकार कर ले हाँ भाई तुम मेरा शिष्य है हम मानते हैं इसलिए आप जो है आप आचार्य ठेकेदार हो गए हैं अविद्या से सागर से दूर करने का ये समस्या अच्छा हो जाएगी इसलिए अच्छा है गुरु गुरु कुछ नहीं बनना चाहिए कोई बंधन नहीं विधि बताओ आविधि बताओ कोई मतलब नहीं असंबंध और आजकल तो यही परंपरा है विधिवत तो कोई आपके है नहीं न विधिवत कोई स्वीकार ही कर रहा है, है? जो दीक्षा उच्छा दे रहे हैं वो थोड़ा विधिवत थोड़ा बहुत कर ले रहे हैं तो वो जाने हमारा तो कोई मतलब है नहीं ना ना दीक्षा देते हैं न लेते हैं कोई लफड़ा में पड़ते ही नहीं है जब विधिवत उपसक्ति वाली बात आएगी तो वो तो है ही नहीं इसलिए सुना रहे हैं पाठ को आप सुन रहे हैं बात खत्म हमारे हम उस तरह के आचार्यों में से नहीं है हम फंस नहीं रहे इसीलिए हमारे लिए नियम लागू नहीं होगा क्योंकि सुन भी ऐसे रहे हैं कौन विधिवत आया है कोई विधिवत नहीं आया नहीं न विधिवत हमने स्वीकार किया है पाठ चल रहा है सुनना चाहते हैं हाँ, ठीक है भाई सुनिए बात खत्म तो फिर भी लाभ होगा क्योंकि परोक्ष ज्ञान तो हमको प्राप्त हो ही रहा है भले अपरोक्षानुभूति करा करके अविद्या सागर से तरारा हमारा काम नहीं रह गया हमारा काम आपको परोक्ष ज्ञान देना इतने तक के लिए हम सीमित हो गए क्योंकि हम एक साधारण टीचर हो गए हैं तर अध्यापक है वेदांत अध्यापक चल रहा है अध्ययन हो रहा है स्वाध्याय कर रहे हैं इतना ही है तो इसलिए जो लेकिन विधिवत तो इसलिए सम्यक उपसन्न है कि वहां ने स्पष्ट कहा कि जो सम्यक पद तो यथाशास्त्र उपसन्न आया यथाशास्त्र विधि तो प्रसन्न हो और आचार्य स्वीकार कर इसलिए आचरण आचरण कहा ना वहां पर जो शिष्य को उपनयन करे सब मंत्र दीक्षा दे और पढ़ा लक्ष्य शुरू से तक पूरा विधिवत करता हो उसके लिए सब बात है नहीं तो परोक्ष ज्ञान कहीं से प्राप्त कर ही रहे हैं अब अपरोक्षानुभूति आपकी अपने ऊपर निर्भर हो गया है कि नहीं हमारी जिम्मेदारी नहीं रह जाती है तो इस तरह से प्रथम मुंडक जो है पूरा हो गया जो कि अपर विद्या आवश्यक प्रथम मुंडक था संकेत प्राविद्या के बारे में कहा दिया हम्म। आपको देखने का नहीं है वो तो अनुभव हो जाता है हाँ आप विधिवत प्रसन्न हो जाओगे आपके गुरु सामने जो श्रोत्र है तो मालूम है ये तो मालूम हो जाएगा शूद्र है ब्राह्मण कुल में माता के दोनों ही ब्राह्मण ही रहे हैं वे शास्त्रों को पढ़ा लिखा है और तदनुसार तो जीवन यापन बाह्य रूप में कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये भी किंचित आप सहवास करने से कुछ ही दिनों से पता लग जाएगा और उसकी ब्रह्मनिष्ठा है नहीं जिस दिन तुम ब्रह्मनिष्ठ हो जाओगे तब ना पता चलेगा उसे पहले पता लगेगा नहीं क्यों आप तो आपके पास क्या है अज्ञान रूपी अस्त्र है मित्र है मशीन है समझो उसे तुम नापोगे अज्ञान से उस आदमी को नापोगे तो क्या होगा आप उसके मन बुद्धि अहंकारों को देखते रह जाओगे इसलिए हम समस्त दोष रही जब हो जाएंगे आपके अंतरण स्वयं अगला को देखते ही समझ लेगा कि ये क्या है लेकिन जिसलिए अंतकरण साफ नहीं है इसलिए अगला ठग है पता नहीं चल रहा अंतरण शुद्ध होने पर ना पता चलेगा कि अगला ब्रह्मनिष्ठ है या नहीं है ये ठग गुरु है व्यापारी गुरु है कि क्षत्रिय गुरु है कि ब्राह्मण गुरु है कैसा गुरु है ये ये आपके अपने अंतगण शुद्धि के ऊपर निर्भर है कई लोग क्या दस दस साल बीस बीस साल बिता देते गुरु के साथ बाद में अरे बेकार लपड़े फंसे रहे हम क्या तक बीस साल बीतने के बाद अकल खुली कब पता चला और हम तो बेकार जिंदगी बर्बाद किए ये तो सौभाग्य की बात है जिन लोगों को दो चार साल में ही अकल खुलती कारण ही क्या आपके अंतरण शुद्धि का अभाव है स्वयं के अंतर शुद्धि इसलिए कहा कि जिसका दर्पण जितना साफ है प्रतिबिंब उतनी ही साफ पड़ती है इसलिए अगले का संबंध हृदय से है ना ये मानस तत्व का है नहीं हम समझने कोशिश करेंगे तो गुरु को समझ ही नहीं सकता कोई ब्रह्मनिष्ठ गुरु को कोई समझने की चेष्टा करेगा ना बुद्धि से मन से वो समझ ही नहीं सकता क्यों मन का विषय है नहीं जिसको ब्रह्मनिष्ठ होगा वो ब्रह्म ही होगा ब्रह्म ब्रह्म होते वही तो ब्रह्मनिष्ठ है ना और वो आपके मन का विषय हो गया जो मन का आयुष है उसको मन का विषय रूप में ग्रहण करके आप उसके नापदंड करने कोशिश करो तो कैसे हम सफल हो सकते हैं जैसे आकाश को आप नाप नहीं सकते क्योंकि वो आपके वाणी और मन का विषय नहीं हो सकता केवल आगम ब्रह्मा जब हम मान ले रहे पृथ्वी इतनी चौड़ी है उसके ऊपर बाहर जल तत्व का सूक्ष्म तत्व का इतना लंबा चौड़ उसका दस गुणा उसका दस गुणा उसका दस गुणा आकाश इतना गुणा हो गया एक शास्त्र सम्मत विचार आप आकाश की लंबाई चौड़ी की परिकल्पना कर सकते हैं वास्तविक रूप से आप नाप नहीं सकते क्योंकि हमारे मन और वाणी का विषय नहीं बन सकता इसलिए ब्रह्मनिष्ठ पुरुष है उसके बारे में यही तो हुआ याज्ञ को देकर कौन समझ पाया वहां दृष्टांत में जाइए आप ये आज्ञोगी को देखे तो किसको समझ में आया था ये ब्रह्म ज्ञानी है एकमात्र जनक महाराज जानते थे थोड़ा आ ये लग रहा है कि हमारे गुरु होने लायक है जिनके सिवाय कोई नहीं जानते बस बल्कि उनकी खैर कर दिया अच्छी तरह से